विक्रांत अब तुम कैसे हो विक्रांत के ठीक सामने बैठी हुई जिया ने सवाल किया फिर उसने मुस्कुराते हुए विक्रांत की तरफ देखा और कहा चिंता मत करो बस थोड़ी इंजरी है ठीक हो जाएगी और शुक्र मनाओ तुम्हारे बैक में ज्यादा चोट नहीं लगी है ज्यादा गहरा घाव नहीं हुआ है ठीक हो जाओगे अब जाकर विक्रांत को याद आया कि वो वहां वेयर हाउस में बेहोश हो गया था दरअसल चोट इतनी ज्यादा थी कि वो कोमा में चला गया था उसे स्ट्रेचर पर रखकर यहाँ इस हॉस्पिटल में इलाज के लिए एडमिट किया गया था मैडम जूनियर नर्स ने मौका पाते ही विक्रांत की शिकायत शुरू कर दी ये आदमी वैसे तो कोमा में पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी फ्लर्ट करने से बाज नहीं आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा था हम्म, तुम लोगों का काम हो गया अब जाकर दूसरे वार्ड में पेशेंट पर भी थोड़ा ध्यान दे लो जाओ यहाँ से जिया ने उन दोनों नर्सों को यहाँ से बाहर जाने का इशारा कर दिया वो दोनों नर्सें भी तुरंत ही यहाँ से बाहर जाने के लिए निकल गईं। उसके बाद जिया ने विक्रांत की तरफ मुस्कुराते हुए देखा कहाँ कहाँ पंगे लेते रहते हो विक्रांत चलो अच्छा है कि तुम्हारी कोई हड्डी टूटी नहीं है बट फिर भी बोन्स में इंटरनल चोट काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है खासकर ये कॉलर बोन गले की हड्डी और ये सीने की हड्डियों में ज़्यादा चोट लगी हुई है आ, बात कोई नहीं तुम ठीक हो जाओगे बस यहाँ बेड पर ही रहो आराम करो ज़्यादा हिलने डुलने की कोशिश मत करो और हाँ ये मुंह की हड्डी भी इंजर्ड हुई है तुम ज़्यादा बोलने की भी कोशिश मत करो विद्या ने जो कुछ भी बताया उससे सहमति जताते हुए विक्रांत ने कहा विक्रांत को भी ठीक ऐसा ही फील हो रहा था इस वक्त भी उसे शरीर में जबरदस्त दर्द का अनुभव हो रहा था लेकिन उसे बॉडी में किसी हड्डी के टूटने की कोई शिकायत नहीं थी हाँ कुछ हड्डियां इधर उधर होकर क्रैक जरूर हुई थी इस वक्त उसे सबसे ज्यादा दर्द तो सीने में हो रहा था यहाँ तक कि उसे सांस खींचने और छोड़ने में भी सीने में भयानक दर्द का एहसास हो रहा था अचानक से विक्रांत को खांसी आई और जैसे उसने खांसना शुरू किया उसके सीने में होने वाला दर्द चरम पर पहुंच गया ओह अरे अरे आराम से आराम से चिंता मत करो जिया ने आगे बढ़कर विक्रांत के सीने पर अपना हाथ रखकर यहाँ सहलाते हुए कहा तुम परेशान मत हो मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारा ध्यान रखूंगी जल्दी ठीक हो जाओगे अभी जिया विक्रांत से ये सब कुछ कह ही रही थी कि उसके कान में गेट की तरफ से किसी औरत के फोन पर बात करने की आवाज सुनाई पड़ी ओके मैम आप चिंता मत कीजिए मेरी टीम ये केस हैंडल कर लेगी आप बस स्पेशल टीम को इससे दूर रखिएगा उसमें काफ़ी डबल एजेंट भी हैं सो हाँ हाँ हो जाएगा सब हो जाएगा मुझे पता है मैम मेरे आदमी कर लेंगे हाँ अभी मुझे हॉस्पिटल में ही रहना होगा फोन पर बात करने वाली ये लेडी नैना थी विक्रांत को उसकी आवाज़ पहचानने में ज़रा सा भी वक्त नहीं लगा प्राइवेट वार्ड के ग्लास डोर से आर पर दिख रहा था विक्रांत ने देखा कि नैना ने अपने हाथ में काफ़ी सामान पकड़ा हुआ है वो जैसे ही डोर खोलकर अंदर दाखिल हुए तो एक बार के लिए चौंक उठी विक्रांत को जिया के साथ इतना करीब होकर बात करते देख नैना के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जिया ने इस वक्त विक्रांत का हाथ पकड़ रखा था शायद इसी वजह से नैना अचानक से चौंक पड़ी <clears throat> हाँ मैम ये विक्रांत को होश आ गया है मैं हॉस्पिटल पहुंच गई हूँ अच्छा मैं करती हूँ हम लोग ये केस संभाल लेंगे डोंट वरी ओके मैम जय हिंद नैना ने जिस हाथ से थैला पकड़ा हुआ था उसी हाथ से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी और दूसरे हाथ से उसे उसने फोन पकड़ रखा था अब ना जाने वो जिया को देखकर घबरा उठी या इत्तेफाक से ही उसके साथ हाथ से थैला छूटकर जमीन पर गिर पड़ा उसमें रखा हुआ सेब जमीन पर बिखर पड़ा लेकिन नैना की नजर इस वक्त विक्रांत के ऊपर ही टिकी हुई थी अरे एक मिनट मैं उठा रही हूँ जिया तुरंत भागते हुए जमीन पर गिरे सेब उठाने लग गई और हीरो कैसे हो नैना ने विक्रांत की तरफ देखकर व्यंगात्मक लहजे में सवाल किया फिर वो विक्रांत की तरफ थोड़ा गुस्से से भरी नजरों से देखने लगी मुझे पता था कि तुम वहाँ केक हाउस के पास आ जा रहे थे तुमने मंजू मैडम के मर्डर केस पर काम करना छोड़ा नहीं था मैं पूछ भी रही थी तुमसे लेकिन तुम मुझे कुछ बताते नहीं कुछ नहीं बताते कुछ नहीं बताते नैना ने विक्रांत को घूरते हुए कहा उसने जितनी बार ये कुछ नहीं बताते कहा उतनी बार धीरे धीरे विक्रांत के पैर पर हाथ से मारे भी जा रही थी एक्सक्यूज मी आप हॉस्पिटल में हैं आप हाँ, प्लीज उन्हें थोड़ा रेस्ट करने देंगे उनको सीरियस इंजरी हुई है जिया ने नैना की तरफ देखते हुए कहा जिया की बात सुनकर नैना का पारा हाई हो उठा उसने जिया को घूरते हुए कहा सिस्टर यहाँ मैं मुंबई पुलिस की तरफ से आई हूँ मुझे इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है सो प्लीज कोऑपरेट नैना ने जिया को दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा फिर उसने जिया को यहाँ से बाहर जाने के लिए बड़े ही आदर के साथ इशारा किया प्लीज मैम अच्छा जिया ने गुस्से से नैना को घूरते हुए कहा ज्यादा इनको बोलने के लिए मजबूर मत कीजिएगा अभी ज्यादा बोलने से इनकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है सो प्लीज इतना कहकर जिया वहां से चली गई और उसने जाते जाते जोर से रूम के दरवाजे को भी बंद कर दिया उसके जाने के बाद नैना विक्रांत की तरफ देखकर गुस्से से बोलने लगी तुम्हारा बड़ा ख्याल रख रही है ये हॉस्पिटल में और पेशेंट नहीं है क्या सिर्फ तुम ही हो हाथ पकड़कर बैठी थी तुम दोनों क्या कर रहे थे मेरे आने से पहले नैना को शायद जिया के बारे में सोचकर जेलसी फील हो रही थी इसीलिए वो विक्रांत को डांटे जा रही थी लेकिन विक्रांत एक भी शब्द नहीं बोल सका वो बस मुस्कुराते हुए नैना को देखे जा रहा था तभी अचानक से विक्रांत को खांसी आनी शुरू होगी खांसने के साथ ही उसके सीने में बड़ा भयानक दर्द हो रहा था ऐसा लग रहा था कि सीने की एक एक हड्डी क्रैक हो चुकी है अरे अरे ठीक हो तुम आराम से आराम से मैं पानी लाऊं अभी तक नैना गुस्से में बोल रही थी लेकिन जैसे ही उसने विक्रांत को खांसते हुए देखा वो तुरंत ही नॉर्मल आवाज में आ गई विक्रांत को अभी उतनी प्यास तो नहीं लगी थी लेकिन नैना ने नैना के पानी पूछने पर भला वो कैसे मना कर सकता था उसने भी इशारे से ही पानी पीने की इच्छा जता दी नैना तुरंत ही रूम में रखे कैन में से पानी निकालकर विक्रांत के लिए लेकर आई फिर उसने अपने हाथों से विक्रांत को सहारा देते हुए उसे पानी पिलाया पानी पीने के बाद ही विक्रांत को थोड़ी राहत महसूस हुई अब उसकी खांसी जाकर खत्म हुई और अब जाकर उसका गला भी थोड़ा साफ हुआ और उसके अंदर बोलने की थोड़ी हिम्मत आई विक्रांत की नजर सामने लगी दीवार घड़ी पर पड़ी इस वक्त उसमें रात के दस बज रहे थे समय देखकर विक्रांत को कुछ याद आया उसने तुरंत ही नैना का हाथ पकड़ते हुए कहा नैना वो वो शहलोक घर पर अकेला होगा उसने सुबह से कुछ खाया नहीं होगा तुम प्लीज किसी को भेजकर उसको यहाँ बुला लो उसे कुछ खिलाना जरूरी है ओहो यहाँ तुम घायल पड़े हो और तुमको अभी भी अपने कुत्ते की चिंता है क्या यार विक्रांत नैना ने अपना सिर पकड़ते हुए कहा चिंता मत करो मुझे ध्यान था उसका मैंने पहले ही रितेश को भेजकर उसे खाना वगैरह दिलवा दिया है तुम्हारे लैंडलॉर्ड से तुम्हारे घर की चाबी मिल गई थी शेरलॉक बिल्कुल ठीक है तुम उसकी चिंता छोड़ो और अपनी करो ओके थैंक यू विक्रांत ने थोड़ी राहत की सांस लेते हुए कहा फिर नैना ने उसके आगे जूस का एक गिलास करते हुए कहा अच्छा ये लो ये पी लो तुम एनर्जी आएगी थोड़ी विक्रांत ने गिलास अपने हाथ में लिया लेकिन अभी उसका ध्यान कहीं और था सो उसने गिलास को साइड में टेबल पर रख दिया और फिर नैना की तरफ देखते हुए पूछने लगा अच्छा और सब कहा है कोई दिख नहीं रहा है तुम्हें क्या लगता है नैना ने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा वहां से रॉ के चार एजेंट समेत पांच लोग घायल मिले हैं इन सबको तुमने ऐसा पीटा है ना बाप रे सबकी सर्जरी हो रही है एक तो बेचारा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है जिंदगी और मौत के बीच फंसा पड़ा है अरे इन सालों पर नजर रखना ये बहुत खतरनाक है तगड़ी ट्रेनिंग ले रखी है इन्होंने यहाँ तक के एक एक बंदे तीन तीन नॉर्मल इंसान को भी मात दे देंगे विक्रांत ने कहा हाँ पता है मुझे तुम उसकी टेंशन छोड़ो मैंने उन पर नज़र रखने के लिए आदमी लगा रखे हैं और मैंने तो ऊपर से रिक्वेस्ट भेज दी है हमें इन पर नज़र रखने के लिए और भी फोर्स की ज़रूरत पड़ सकती है हम्म, ठीक है विक्रांत ने निश्चिंत होते हुए कहा अच्छा हुआ ये साले मौत से लड़ रहे हैं इन सब ने मिलकर मंजू मैडम का मर्डर किया था अच्छा हाँ वो कहाँ गया रमन वो भी साला इन लोगों से मिला हुआ था बास्टर्ड पुलिस फोर्स का होकर पुलिस से ही गद्दारी करता है हाँ हाँ पता है उसको भी ठिकाने पर लगा दिया जाएगा अभी तो वो भी अपना इलाज करवा रहा है नैना ने कहा और हमें और भी बहुत कुछ सबूत मिला है इन लोगों ने ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को फंसाने के लिए उनके घर में जो सामान रखा था वो भी हमने बरामद कर लिया है अभिजात सर को इन लोगों ने झूठे आरोप में जानबूझकर फंसाया था वैसे इन सब का असली टारगेट आशीष केलकर था आशीष केलकर विक्रांत इस नाम को याद करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसे कोई इस नाम का याद नहीं आया ये ये कौन है आशीष केलकर ये पुलिस की स्पेशल टीम का मेंबर था और इसने ही उस साल याकूब खान को मारा था नैना ने बताया पुलिस और याकूब के बीच मुठभेड़ हुई थी और फिर ये पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश कर रहा था तब आशीष केलकर ने ही याकूब का इनकाउंटर किया था ओ अच्छा अब जाकर विक्रांत को सारा माजरा समझ आया दरअसल याकूब खान डॉन करीम खान का बेटा था और फिर करीम ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए ही पुलिस को अपना टारगेट बनाना शुरू किया था पुलिस को पता था कि याकूब के इनकाउंटर के बाद उसका बाप डॉन करीम चुप नहीं बैठेगा इसीलिए पुलिस ने आशीष केलकर का नाम बाहर नहीं आने दिया नैना ने बताया फिर उन लोगों ने पुलिस डिपार्टमेंट के ही रमन से कांटेक्ट करना शुरू किया रमन के कजिन के बैंक अकाउंट में करीम डॉन ने पांच लाख रुपए भी भिजवाए थे इन लोगों ने मिलकर फिर मंजू मैडम और ब्यूरो चीफ अमृत अभिजात को टारगेट बनाया मंजू मैडम निर्दोष थी फिर भी इन कमीनों ने उन्हें मार डाला वो तो ब्यूरो चीफ अभिजात सर को भी मारने के फिराक में थे लेकिन डॉक्टर संजय सर ने अभिजात सर को कहीं सेफ जगह पर छुपा दिया था इस वजह से उनकी जान बच गई ओहो इन सालों की कितनी हिम्मत है पुलिस को भी नहीं छोड़ रहे तो आम लोगों की सुरक्षा की बात ही दूर की है विक्रांत ने हल्की सांस छोड़ते हुए कहा हम्म, मैंने हेडक्वार्टर में लेटर भेज दिया है हमें एक टीम जल्द ही मिल जाएगी उस टीम को हम डॉन करीम को पकड़ने के लिए लगाने वाले हैं नैना ने आगे बताया हम्म, विक्रांत गहरी सोच में डूब गया उसे अभी भी मंजू मैडम का चेहरा और उनके द्वारा कही गई बातें याद आने लगी विक्रांत मायूस हो उठा मंजू मैडम के छोटे छोटे बच्चों के रोने की आवाज मानो अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी तुम ये सब छोड़ो ये सब तो होता ही रहेगा नैना ने विक्रांत के मायूस चेहरे को पढ़ लिया ये बताओ तुम वहाँ वेयर हाउस के भीतर इन लोगों के पास कैसे पहुंचे तुम तो वहाँ केक शॉप पर गए हुए थे ना